संध्या को सफल बनाने के लिए उपासना को सफलता पूर्वक करने के लिए व्यक्ति को दिन भर सावधान रहना पड़ता है मन को खुला छोड़ के चाहे जो विचार आता जाए चाहे जो विचारता रहे चाहे जो आता जाए चाहे जो जाता जाए कोई काट छांट नहीं है कोई रोक टोक नहीं है जिसका मन दिन में रहेगा ऐसा वो संज्ञा नहीं कर सकता किसी वस्तु से आपने थोड़ा सा ध्यान दिया उससे द्वेष कर लिया उत्पन्न अथवा राग उत्पन्न कर लिया आधा मिनट एक मिनट सुंदर रूप उसमें राग उत्पन्न कर लिया थोड़ी देर देखते रहे कितना सुंदर है कितना अच्छा है बस आपकी संध्या उपासना संकट में पड़ जाएगी यदि आपने किसी से थोड़ा सा द्वेष कर लिया तनाव झगड़ा दिन में तो वो झगड़ा आपको संध्या में याद आएगा जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा किया था उसकी शकल आएगी आकृति आएगी तो आप संध्या नहीं कर सकेंगे आप परीक्षण करके देख लो या नहीं होगा ऐसा संध्या को उपासना को कैसे सफल बनाया जाता है और किस प्रकार की वहां पर गतिविधि होती रहती है किस किस विषय में क्या क्या सोचना चाहिए वो सब कुछ व्यक्ति को आना चाहिए लोगों ने ये मान रखा है ये समझ रखा है संध्या तो ऐसी चीज है जैसे थाली में हलवा शीरा डाला और उठा के खा लिया बस संध्या इतनी क्रिया है और संध्या को इससे आगे कुछ और करना धरना कुछ नहीं होता क्यों जी कच्छ के लोगो शीरा डाला थाली में <laughs> और उठा के खा लिया बस संध्या इतना ऐसा ही काम है भगवान की भक्ति इतनी सरल है और शीरा उठा के खा लिया हो ऐसे संध्या करो आनंद मिलेगा भाई इतना ही समझाओ 好，别闹。 तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों आपने कल समझने का प्रयास किया था कि ज्ञान कर्म उपासना तीनों को व्यक्ति एक साथ लेके चलता है उस समय उपासना काल में क्या कुछ हमको करना चाहिए और व्यवहार काल में हम क्या कुछ करें उपासना को ठीक विशुद्ध रूप देने के लिए व्यक्ति को उपासना के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है इसी प्रकार से उपासना को ठीक करने के लिए व्यक्ति को अपनी विद्या को ठीक करना पड़ता है इसी प्रकार से इनमें शुद्ध ज्ञान से उपासना को ठीक करना पड़ता है शुद्ध ज्ञान से कर्म को ठीक करना पड़ता है जैसे शुद्ध ज्ञान से हम उपासना को ठीक करते हैं वैसे ही शुद्ध उपासना से हम ज्ञान को ठीक करते हैं जैसे हम शुद्ध ज्ञान से कर्म को ठीक करते हैं और शुद्ध कर्म से ज्ञान को ठीक करते हैं इसलिए ये तीनों के तीनों एक अन्यो अन्य आश्रित होके चलते हैं कर्म से उपासना और ज्ञान शुद्ध होते हैं ज्ञान से कर्म और उपासना शुद्ध होते हैं उपासना से कर्म और ज्ञान शुद्ध होता है ये एक दूसरे के आश्रित होके चलते हैं इनको व्यक्ति संतुलित रखता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है जो अन्य था तीनों को संतुलित नहीं रखता उस व्यक्ति का जीवन विफल होगा जो व्यक्ति चाहता है मैं कृत कृत्य हो जाऊं समस्त दुखों से छूट जाऊं नित्य अन्न की प्राप्ति कर ले वो व्यक्ति कभी भी इस स्थिति में नहीं आ सकता नहीं जा सकता लोक में संसार में तीनों को ले हम जिस किसी व्यक्ति ने ज्ञान को ठीक प्राप्त नहीं किया वह उपासना में सफल नहीं हो पाया जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान को संतुलित नहीं रखा वो कर्म में ठीक नहीं हो पाया जिस व्यक्ति ने कर्म में ठीक शुद्धि नहीं की निष्काम कर्म की स्थिति उत्पन्न नहीं की वो व्यक्ति विद्या में भी सफल नहीं हो पाता ऐसे ही उपासना की समझ लेना चाहिए आपको कुछ स्मरण है कि उपासना काल में कल क्या कुछ बात बताई थी हाँ जी आप बोलिए कुछ याद है कल का उपासना काल में व्यक्ति यदि बाह्य वृत्तियों को उठा लेता है तो इसका कारण वह स्वयं है यदि वो मन को चेतन मान रहा है तो यह उसकी मूर्खता है अथवा भूल है एक बार यदि बाधा उपस्थित हो जाती है जैसे बाधाएं दो प्रकार की बताई गई बाहर की बाधाएं आंतरिक बाधाएं बाहर की बाधा यदि उपस्थित हो गई जैसे कोई बात भूल गया कपड़ा सुखाना या ऐसा कोई बात दरवाजा बंद करना तो उस समय उस बाधा को दूर करके ही बैठना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब उपासना के काल में उपासना से अतिरिक्त अन्य विचारों को नहीं उठाऊंगा वरना वो बाधा उसको पूरे उपासना काल तक उपासना नहीं करने देगी ठीक इसी तरह से आंतरिक विषयों के विषय में भी विचारों के विषय में भी समझना चाहिए ऐसी बात बताई गई थी इसके अलावा यह भी बताया गया था कि जब एक बार निर्णय हो जाए किसी विचार पर और वही वृत्ति दोबारा यदि उठ जाए या उठा देवे तब इस तरह से सोचना चाहिए कि ये वृत्ति मैंने ही उठाई है अब मैं इसे नहीं उठाऊंगा आदि आदि उपाय बताए गए थे अब इनको आप सुन करके इनका प्रयोग दैनिक जीवन में और प्रातः काल उपासना काल में नहीं करते तो आपकी प्रगति विकास जैसा होना चाहिए वो नहीं होगा वेदों में इतनी विद्या दर्शनों में इतनी विद्या है उपनिषदों में इतनी विद्या है अर्थात इन ग्रंथों में जो विद्या है अर्थात ज्ञान कर्म उपासना का जो संतुलन है तीनों में इन ग्रंथों में तीनों का ऐसा किसी भूगोल के संप्रदाय किसी वैज्ञानिक के पास में यह संतुलन नहीं मिलेगा अर्थात ज्ञान कर्म उपासना तीनों का संतुलन किसी के साहित्य में नहीं मिलेगा और इसके पढ़ने पढ़ाने वाले इसको मानने वाले इसका उपदेश देने वाले व्यक्ति जब तीनों का संतुलन खो लेते हैं उसके पीछे समाज देखता है ये क्या हो गया ये व्यक्ति तो बहुत पढ़ा लिखा है बहुत अच्छा प्रवक्ता है बहुत अच्छा लेखक है भाष्यकार भी है और वो फिर प्रभाव ये डाल देता है कि इन दर्शनों में वेदों में उपनिषदों में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो मनुष्य को बहुत ऊंचा बना देती हो ये प्रभाव दे देता है ये उल्टा प्रभाव डालता है समाज के ऊपर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इतना पढ़ के पढ़ा के प्रवक्ता बन के लेखक बन के भी आपकी दुर्गति हो जाएगी सदगति नहीं हो सकती ये याद रख लेना आपके दिमाग में जो एक बात रहती होगी प्राय रहती है वो व्यक्ति अपने आप को जितना बुद्धिमान मानता है दूसरा किसी को नहीं मानता प्राय ये दिमाग उसके अपने घर में बना रहता है और जो निर्णय होने लगते हैं तो वेद का ऋषियों का दर्शनों का निर्णय पीछे उसका अपना निर्णय ऊपर रहता है वो अपने निर्णय की बात को ही ठीक मानता है अंत में और उसकी दुर्गति का कारण यह बनता है इस मिथ्याभिमान से बचने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ करना पड़ता है उसको जानना चाहिए यदि आपने अच्छी तरह सुना है याद है लेखबद्ध है तो बहुत कुछ सुनाया जाता है और उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे तो ये मिथ्याभिमान दूर नहीं हो सकता ये जन्म जन्मांतर की मान्यताएं मिथ्या मान्यताएं अनरित मान्यताएं अविद्या जनित मान्यताएं चली आ रही आज भी आपके पास में है और आप उनको ढीला छोड़ दो उनके ऊपर लगातार मारने मारे उनको उखाड़ने का यत्न करें वो आपको नहीं छोड़ सकती आप उनको नहीं छोड़ सकते उदाहरण के रूप में मैं और मेरा मैं आपसे पूछू कौन से ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो मैं और मेरे को दिन भर हटाए रखते हैं बताओ कौन कौन है कोई भी नहीं है नहीं होता तो क्या आपने ये विद्या समझ ली मैं और मेरा जो संबंध है वो बंधन का कारण है ये परमाणु से सिद्ध है और आप इसका प्रयोग करते नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते थोड़ा सा परिश्रम करके आपने संतुष्टि कर ली आपने मान लिया मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है मैं और मेरे संबंध को हटा दिया है अब ढीला छोड़ दिया परिणाम आपकी विद्या बढ़ती जाएगी मैं और मेरे का संबंध और बढ़ता जाएगा उसे मिथ्याभिमान और बढ़ता जाएगा विद्या का अभिमान जब गुरुकुल में एक सीधा साधा युवक आया हो कालेज से पढ़ के उसकी श्रद्धा रुचि हो तब तो वो नमस्ते करता है पैर छूता है नम्रता से बोलता है सबको बड़ा मानता है और जब दो चार छह वर्ष में या चार तीन वर्ष में वो बहुत बुद्धिमान बन जाता है शब्दार्थ संबंध बहुत वो देखने लगता है इनको कुछ भी नहीं आता मेरी बुद्धि में तो पता नहीं कितनी ऐसी उहा ऐसी तर्क है और आचार्य जी को भी नहीं आती कितनी बातें मैं उनको समझा लेता हूं वो यहां आकर के अभिमान में लिपट करके वो चकनाचूर होता है आपका भी ऐसा ही होगा यदि इससे नहीं बचेंगे आप नहीं बच सकते आपके मन में रहता है वही बात रहती है कि हम बहुत समझदार हैं और ये बताने वाले इतने समझदार नहीं दिख रहे इनके प्रबंधों प्रबंधकों में इनकी व्यवस्थाओं में इनके जीवन में इतनी इतनी त्रुटियां इतने इतने दोष हैं तो ये कोई इतने ऊंचे स्तर के व्यक्ति नहीं ऐसा वो सोचना आरंभ करता है अब उसको तीनों का संतुलन नहीं बनाना आ रहा है वो ये नहीं देख पा रहा मैं भी ऐसा विचारता हूं तो मेरी गति क्या होगी अपनी हानि स्वयं करता है वो इन विचारधाराओं के माध्यम से उसका परिणाम क्या निकलता है ईश्वर के प्रति जो उसकी श्रद्धा उसका विश्वास ईश्वर को आदि मूल मानना ये बातें तो समाप्त होती जाती है और वो विद्याओं का बल का गुणों का आदि मूल अपने आप को मानना आरंभ करता है मैं हूं इन गुणों का कारण बल का कारण बुद्धि का कारण योग विद्या का कारण जो भी कुछ है मैं ये यहां पर आगे खड़ा हो जाता है यदि वो देखता है कि संतुलन रखो विद्या का संतुलन कैसे बनाए विद्या ये कहती है प्रमाण ये कहते हैं ये हमारे पास में जो विद्या है ये हमारी विद्या नहीं है हमारे पास में जो बल है ये हमारा बल नहीं है नाम मात्र का हमारा बल है हमने जो प्रगति की है इसमें हम विशेष कारण नहीं है साधारण कारण केवल मात्र है ईश्वर कारण है वेद विद्या कारण है ऋषियों के ग्रंथ कारण है तो वहां से सारा सामर्थ्य हमको मिला है तो हम ऐसा कैसे सोचने लग गए ये विद्या मेरी है ये बल मेरा है ये धर्म मेरा है ये योग की सिद्धियां मेरी है ये कैसे मानने लगे विद्या का संतुलन बिगड़ गया विद्या ठीक नहीं रही उसकी यदि विद्या का संतुलन ये कहता है देखो ये विद्या सारी ईश्वर प्रदत्त है ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया न होती तो हम एक तिनके को नहीं जान सकते शरीर न होता हम एक करवट नहीं बदल सकते वो अच्छी प्रकार से वो देखता है कहता है ये तो सारी मूर्खता की बातें अज्ञानता की बातें और उनको हटाता है जैसे जैसे वो इन मूर्खता की बातों को हटाता जाता है और ईश्वर के गुणक्रम स्वभाव के अनुरूप सोचता जाता वैसा वैसा उन्नत होता जाता है ईश्वर से उसका संबंध जुड़ता जाता है ईश्वर से उसको विद्या मिलती है ईश्वर से उसको आनंद मिलता है सारी शक्तियां सामर्थ्य ईश्वर से उसको मिलते रहते हैं और व्यक्ति उन्नत हो जाता है और सबसे सुखी रहता है वो और समाज को राष्ट्र को या विश्व को ऐसी देन दे सकता है ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता परिणाम ये निकलता यदि आप ऐसे सोचेंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे आप अन्यथा सोचेंगे तो दुर्गति हो जाएगी दूसरी स्थिति में जाएंगे आप व्यक्ति व्यवहार में व्यवहार में जैसा मन वाणी शरीर से उसको प्रयोग करना चाहिए अन्य व्यक्तियों के साथ वैसा नहीं करता व्यवहार काल प्राय उसका ध्यान ही नहीं होता मैं क्या सोचता हूं मैं क्या बोलता हूं आप दैनिक जीवन में अध्ययन करिए अपने कैसा बुरा सोचते हैं आप कैसा बोलते खराब है आप लेन देन इतना अच्छा नहीं होता उत्तरदायित्वहीनता कितनी रहती है उसको जब देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे यमनेमो के विरुद्ध है सारा यदि यमनेमो के विरुद्ध न होता तो इस सूत्र को आप ध्यान से देखो योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति ये ऋषि का बनाया है इसने तो ये बात स्पष्ट कर दी कि जो व्यक्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनको ठीक ठीक आचरण में लाता है तो उसकी अशुद्धि अविद्या अधर्म कुसंस्कार इसका नाश हो जाता है और विवेक ख्याति संप्रजात समाधि की ऊंची स्थिति तक बढ़ती चली जाती है परिणाम ये निकलेगा यदि आपका यम नियम अष्टांग योग ठीक है तो नहीं है तो समझ लेना मैंने यहां पर भयंकर दोष कर रखे इसलिए मुझे समाधि प्राप्त नहीं हो रही ये हो ही नहीं सकता कि आप अष्टांग योग का पालन करें और समाधि न हो ये नहीं हो सकता और जब संप्रज्ञात समाधि होगी तो असंप्रज्ञात न हो ये नहीं हो सकता आपने परिश्रम नहीं किया तो अंत में खाली का खाली देख सकते हैं आप अपने आप और हो सकता है आप ये सोचने लगे मैं यदि आधुनिक ढंग से चलता तो संपत्तिशाली बन जाता कोई ऊंचा अधिकारी बन जाता कोई किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा व्यवसाय अरबपति करोड़पति बन जाता आदि आदि आपके दिमाग में उठेंगे तरंगे और आप दुखी होंगे और दुखी होके रोते पीटते रहेंगे जीवन भर ये परिणाम निकलेगा ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया कि आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल चार क्षेत्रों में जब व्यक्ति पूरा परिश्रम करेगा तो विद्या आ जाएगी नहीं तो विद्या नहीं आई विद्या का स्वरूप सामने आ ही नहीं सकता शब्दार्थ संबंध जानना एक अलग बात शब्दार्थ संबंध की बात आपने सुनी और पढ़ी भी होगी नारद की अठारह विद्या निपुण व्यक्ति अठारह विद्या में बहुत महान व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति वो अनुभव करता है मैं मंत्र विद्या को मंत्र को जानता हूं मंत्रों का अर्थ कर सकता हूं मंत्रवित्त हूं मैं आत्मवित नहीं हूं अर्थात आत्मा परमात्मा को मैं नहीं जान पाया इसकी कितनी नंबरता है व्यक्ति की ये अपनी मूर्खता का अनुभव कर रहा है क्यों आत्मविन न सोचती आत्मा अर्थात ईश्वर को जानने वाला शोक को प्राप्त नहीं होता मुझे काम करो तो लोग वो शोक सताते मैं आत्मविद नहीं हूं इसलिए सनत कुमार से कहा मैं वो उपदेश लेने के लिए आया हूं जिसका अभिमान नष्ट होता है और नष्ट करता है वो अपने हाथों से वो व्यक्ति की स्थिति नारदेशी बनेंगे बनेगी नहीं तो आपकी नारद जैसी स्थिति बनती जाएगी जो पहले की स्थिति है अंत में नारद की जो स्थिति थी वो नहीं बन पाएगी ऐसी स्थिति को बनाने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है आपको सिखाया आपको बताया पर वहां पर क्या होता आप उसका प्रयोग नहीं करते जब प्रयोग नहीं करते तो परिणाम नहीं निकलेगा जैसे या दैनिक जीवन में चलते फिरते खाते पीते लेते देते आप ये मान के चलते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है मैं स्वामी नहीं हूं यदि ऐसा चलते हैं तो व्यवहार आपका ठीक है नहीं आपका व्यवहार अनुचित है हानिकारक है घातक है पूरे दिन भर जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे ईश्वर को ही सब कुछ का स्वामी मान के चलेंगे ईश्वर की ही उपासना करेंगे दिन भर अन्य पदार्थों की नहीं उस समय आपका ईश्वर कितना हित करेगा वो मुक्ति तक पहुंचा देगा अन्यथा आपको ईश्वर दंड देगा और अच्छे कर्म यदि बराबर हो गए तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा वो ईश्वर का न्याय है आगे बढ़ गए तो गदा घोड़ा सूर की योनि तैयार करे अच्छा आपको जचती है यह बात या कम अभी संशय है आप बताओ आप पूरी तरह से जचती है जचती हाँ जी संदीप जी बोलिए या संशय है कुछ है हाँ जी हाँ जी ध्रुवदेव जी बोलिए पक्की कई बार व्यक्ति सोचता है मैं पक्का मान गया हूं होता कच्चा है वो इसको भी कुरेद के देखो अंदर वो ढीले स्तर पर सोचता है इतना सूक्ष्मता से नहीं छोड़ता तो ये मान लेता है मेरा संदेह दूर हो गया है अब कालांतर में कोई घटना को लेके सोचे तो कहेगा संदेह तो और बना हुआ है अभी या नहीं आती ऐसी घटना समय समय पर आपने सुना निर्णयात्मक संशयात्मक ज्ञान में बदलता है या नहीं बदलता बताइए हम्म? और संशयात्मक भ्रमात्मक में बदलता है और भ्रमात्मक ज्ञान अभावात्मक में बदल जाता है आप इसको सतत देख सकते हैं उदाहरण आपको याद होंगे ये ज्ञान ज्ञान अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है इसके क्षेत्र में वो व्यक्ति देखता है मैं अमुक विषय में नहीं जानता कुछ भी हमें ज्ञात ही नहीं हमारे पीठ के पीछे क्या है यह भावात्मक अवस्था है दूसरी स्थिति हमें रस्सी को सांप समझते हैं अर्थात दूसरा उदाहरण विषय भोगों में सुख है इसको ले लो इसको हम सुख मानते ये भ्रमात्मक ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है भ्रांति है जब इसमें भी थोड़ी सी बात उभरती है तो व्यक्ति सोचता है मैं इसको पूर्ण रूपे सुख मान बैठा हूं पता नहीं ये पूरा सुख है या नहीं ऋषि तो कहते हैं सारा दुख ही दुख है संशय हो जाएगा तो संशयात्मक हो गया ऋषि तो ऐसा कहते हैं दुख में सर्व विवेकी न विवेकी के लिए तो दुख ही रूप है सारा संसार का सुख वो तो ये कहते तो संशय हो गया कल्पना कीजिए आप आगे बढ़े आपने बहुत गंभीरता से विचार किया और कुछ बात समझ में आने लगी कि वास्तव में ऋषियों वाली बात ठीक दिखती है वह यहां पहुंच गया आपने निर्णय कर लिया कि ये दुख रूप है संसार का सुख ये निर्णयात्मक दूसरे दिन उसी दिन या दो चार छह दिन में फिर संशय पैदा हो गया पता नहीं मैंने निर्णय किया है ये दुख रूप है संसार का सुख या ये संशय उत्पन्न हो गया कालांतर में और ढीला बनाया तो कहने के नहीं तो सुख है करोड़ों लोग लगे हुए मूर्ख थोड़े हैं सारे के सारे सारे वैज्ञानिक उसी को सुख मान ये सारे के सारे पूरे बुद्धिमान है ये तो सुख है वो भ्रांति होगी कि निश्चित रूप में सुख है तो निर्णयात्मक ज्ञान संशयात्मक संशयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक भ्रमात्मक ज्ञान अभावात्मक कुछ भी ज्ञान नहीं होना ये स्थिति बदलती रहती आपने देखा सुना पढ़ा होगा दर्शनकार नहीं कुछ क्या नहीं बताते ये आप ये मानते हैं दर्शनकार कुछ नहीं बताते हो जो मानव की अंतिम अंतिम कृत कृत्यता के लिए क्या ऋषि कुछ नहीं बताते ऐसा जसता है क्या समझ में आया भाषा समझ में नहीं आई है स्वामी जी क्या ऋषियों ने अंतिम कृतकृत्यता के लिए आवश्यक ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया हुआ है पर अपने पुरुषार्थ की कमी है उसमें कोई कमी नहीं लेश मात्र भी नहीं है और उसको जो समझता है व्यवहार में उतारता है वो निश्चित रूपेण ऋषियों की बातें कृत करते हो ही जाएगा वो कहते हैं आपने सुना वित्थान निरोध संस्कार योग भव प्रादुर्भाव निरोध अक्षर चित्तान्वय निरोध परिणाम है ये आपने पढ़ा सुना कि एक तो लोक की ओर ले जाने वाले संस्कार होते हैं और एक ईश्वर साक्षात्कार करवाने वाले संस्कार होते हैं दोनों तरह के संस्कार होते हैं मिथ्या निरोध संस्कार लोक में वैसे भोग में हमको घीसने वाले घसीटने वाले उन संस्कारों को व्यक्ति दबा देता है और निरोध समाधि प्रजा समाधि के संस्कार को जगा लेता है परिणाम प्रजा समाधि हो जाती है फिर कहते हैं यदि वो ढीला होता है असावधान होता है आलस्य प्रमाद के कारण वो परिणाम क्या निकलता है वो निरोध संस्कार तो दब जाते हैं और वित्थान लौकिक संस्कार उभार लेता है समाधि भंग व्यक्ति वही है ये काम कौन मैं और आप यह तीसरा व्यक्ति है हम ही तो हैं ये काम करने वाले नहीं आ समझ हाँ जी ध्रुव देवी क्या समझ में आया ये सुधार और बिगाड़ हम ही तो कर रहे हैं ना वहां उस अवस्था में या नहीं कर रहे अरे अच्छा, आपकी असंप्रज्ञान समाधि लगी या नहीं लगी नहीं लगी है तो हाथ खड़ा करो स्वामी जी निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं क्या जो स्थितियां बनती है आंतरिक उसका क्या स्तर है अभी हाँ मतलब उसको क्या बताए अच्छा उसका बताने का ढंग क्या है जो वहां पर लक्षण लिखे है ना जैसे आप देख पाएंगे की दर्शनकार ने एक बात कही तद अभावात संयोग अभाव है तद हन तद विवेक ख्यातिर अभिपलवा हान उपाय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा वो सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा यदि दिख रही है तो समझो ये असंप्रज्ञा समाधि है लक्षण अब क्या समझ में आया यदि वो चित्र ज्यो का तो अनुभूति का विषय बनता है सात प्रकार की बुद्धि तो असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो गई नहीं तो नहीं एक बात अब संप्रज्ञात का सुनो ऊंची संप्रज्ञा ताय व सबीज समाधि और आगे नहीं याद निर्विचार वैशार निर्विचार वैशार्दे अध्यात्म प्रसाद है निर्विचार समाधि की जब ऊंची स्थिति आती है तो क्या प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य सोच सोच तो जनान भूमिष्ठानी व स्थ सर्वान प्राचीन उपस्थित वो चित्र आपको दिखाई देगा जब संप्रज्ञा समाधि आएगी तो वो चित्र जो का दिखाई देगा वो व्यक्ति कैसा अनुभव करता है सारा संसार कलेशों में पिस रहा है मैं कलेशों से मुक्त हो चुका हूं पहाड़ की चोटी पर जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति बोले तल, तलेट में तलेटी में रहने वाले ऐसा संसार को देखता है ये अनुभूतियां होंगी तो समझे ना संप्रज्ञान समाधि की ऊंची स्थिति आ चुकी है तो ये अनुभूतियां बताएंगी कि वो स्थिति है या नहीं है आप याद रखिए सुना था आप संसार के अंदर ईश्वर प्राप्ति के तुल्य कोई कठिन कार्य नहीं है दोहरा लो क्या सुना था संसार में ईश्वर प्राप्ति के तुल्य कोई कठिन काम नहीं है हमारे यहां समझ में पहले सुना था वो लिख लिया होगा या दोहराते हैं या नहीं जितना कठिन ज्ञान बल तप त्याग सर्वस्व की आहुति दे करके ईश्वर की प्राप्ति की जाती है इस प्रकार का ज्ञान त्याग तप संयम सारी बातें दे दो संसार के किसी कार्य में नहीं करना पड़ता कोई ऐसा कार्य नहीं है दूसरी बात जैसा ईश्वर प्राप्ति से व्यक्ति को सुख मिलता है दुख रहित सुख मिलता है सारे दुखों की निवृत्ति होती है ऐसा सुख दुख रहित सुख समस्त दुखों की निवृत्ति संसार के किसी पदार्थ से किसी कार्य से भी नहीं होती ये भी याद रख लेना अब क्या समझ में आया हाँ स्तवन जी क्या समझ में आया इतने ढीले बैठे हो अब देखा इधर उधर ध्यान था तो आपसे बात पूछ ली गई नहीं बता पा रहे अब क्यों ध्यान और कहीं चला गया हाँ जी वो तो नया है ना वो तो शायद न बता पाए क्या समझ में आया उसके अलावा हम रहित सुख किसी भी वस्तु प्राप्त करते आपको क्या समझ में आया जो सुख हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं हम्म। ऐसा दुख रहित सुख हम्म। और किसी संसार की वस्तु से नहीं प्राप्त कर सकते हम्म। अच्छा मैं आपसे पूछूं रणबीर जी ये कठिन क्या है और सरल क्या है कठिन क्या है और सरल क्या है ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है और संसार को प्राप्त कर लेना सरल है संसारिक अच्छा कोई कठिन नाम की चीज और सरल नाम की बात कोई है या वैसे कही जाती है ध्रुवदेव जी सरल भी है और कठिन भी है आप बोलो मुझे सरल इस दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति लगती है क्योंकि संसार की उपासना कठिन तम भी है क्योंकि अहिंसा हिंसा असत्य व्यभिचार आदि कर्मों में व्यक्ति का जीवन उलझता उलझता ही जाता है इस दृष्टि से वह कठिन है और ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो सरल इसलिए लगता है क्योंकि उसमें जीवन बनता ही जाएगा तो उसमें देखना है सरल और कठिन उसके स्वरूप को देखो सामर्थ्य और अभ्यास से सब कार्य सरल है असामर्थ्य और अनभ्यास से सारे कार्य कठिन है वेद मुनि जी बोलिए पूरी बात सुनो जब उत्तर दो फिर बोलो सामर्थ्य से और वो दूसरा वाक्य छूट गया अनाभ्यास से हाँ असामर्थ्य से अनभ्यास से सारे कार्य कठिन और दूसरी परिभाषा सामर्थ्य से और अभ्यास से सारे कार्य सरल है सरल और कठिन की परिभाषा चलती है एक कार्य जितना बल बुद्धि समय सिद्ध करने में हमको लगाना पड़ता है उतना दूसरे कार्य में नहीं लगाना पड़ता इसलिए उसको हम इससे कठिन कहते हैं कठिन सर है दुनिया में ये दूसरी ऐसा नहीं है कोई कार्य कठिन नहीं है सरल नहीं है जो थोड़े परिश्रम थोड़ी विद्या थोड़े काल से सिद्ध हो जाए वो सरल जो अधिक परिश्रम अधिक विद्या अधिक समय लगाने में वो उसकी उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा वो कठिन है ये निश्चित है और अब दूसरी स्थिति वो जो पहले बतलाई कि कोई कार्य सामर्थ्य और अभ्यास के होने से सरल ही हो जाता है कोई कार्य और सामर्थ्य अभ्यास के न होने से छोटा कार्य भी कठिन प्रतीत होता है देखा हो सुना हो महर्षि दान जीवन के चरित्र के अंदर उनके जीवन में जो घटनाएं जीवन के जो उसके व्यवहार उनका पढ़ना पढ़ाना किसी चीज को मानना मनवाना गुरुओं से विद्या पढ़ना उनके हाव भाव देखो कभी और फिर देखो उनके ग्रंथों को सत्यार प्रकाश आदि ग्रंथों को उनकी भाषा देखो वो कैसे लिखते हैं स्वाभाविक चीजें जिसको बोलते हैं ना भाषा ऐसी चल रही है अनुभव कम करते होंगे आप लोग और जीवन की घटना देखो स्वाभाविक चलती है वो करते हैं जहां जहां वो सत्य देखते हैं उसको पकड़ देते हैं और जो असत्य देखते हैं उसको झट छोड़ देते हैं बस इसमें अनुनच नहीं है ये ढंग है आदर्श जीवन बनाने का इधर उधर मोड़ तरोड़ की बात को कहेंगे आप आप बिल्कुल गति नहीं कर सकते कुछ ब्रह्मचारियों का स्वभाव ऐसा होता है अपने दोष यदि हमने सबके बीच में बता दिए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी सत्यानाश हो जाएगा इसलिए सबके बीच में दोष मत बताओ भाई उसकी दुर्गति निश्चित है जो ऐसा सोचता है जो ऐसा सोचता है मैं सबके बीच में दोष बताऊंगा मेरा जीवन नीचे गिरेगा अपमान होगा लोगों के बीच में कुख्याति फैलेगी उसका निश्चित रूप में दुर्गति होगी उसकी लौकिक स्तर पर उसको मान मिल सकता है लौकिक स्तर पर विद्वान कहला सकता है लौकिक स्तर पर वो लेखक बन सकता है पर विशुद्ध विद्या का क्षेत्र आना और अविद्या को हटा देना या ईश्वर तक पहुंच जाने ये बात कहिए कभी होगी नहीं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी नहीं उसकी स्थिति बनेगी नहीं जब मैंने देखा ये ऐसा क्यों सोचते हैं ये ब्रह्मचारी ऐसा क्यों सोचते हैं? कि मैं दोष बताऊंगा तो बड़ा भारी नुकसान हानि होगी ऐसा क्यों सोचते अरे अच्छा, आप बताओ कौन कौन सोचते हैं अपना बताओ पहले औरों की बात छोड़ो आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि बहुत बड़ा दोष है ये बताया तो बड़ी हानि हो जाएगी इसे तो उसको बताना नहीं चाहिए सोचते हुआ नहीं सोचते ये याद नहीं है ये दिमाग बनता है बताऊं ना बताऊं इसे हानि होगी लाभ होगा वो कहता ऐसा बताने से तो बड़ा अपमान होगा लोग कहेंगे देखो ये ब्रह्मचारी बना बैठा है ये दर्शनों का विद्वान बन गया ये ये तो चोरी कर लेता है ये तो झूठ बोल देता है ये तो झगड़ भी लेता है और वो दोषों के सामने नहीं जाना चाहिए ये विचारधारा व्यक्ति को नीचे गिराने वाली आत्मनिरीक्षण करके देख लो आप जो जो ऐसी बातें करेंगे वो निश्चित रूप में विफल हो जाएंगे व्यवहार को ठीक रखना और फिर उपासना काल में क्या क्या सावधानी हमको रखनी पड़ती है उनको याद रखता है वो बाधकों को भी याद रखता है वो ये बाधक है विरोधी उन बाधकों को झट रोकता है साधनों को झट काम में लाता है थोड़े काल में थोड़े परिश्रम में व्यक्ति बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेता है वास्तविकता क्या है ये व्यक्ति उल्टा सोचता है उल्टा दिमाग उल्टी तर्क उल्टी योजनाएं इतनी बना लेता है कि अपनी उन्नति में स्वयं उपाधक बनकर खड़ा होता है एक सामान्य स्तर पर हम विचार करें तो कहीं 80 प्रतिशत कहीं 70 प्रतिशत कहीं 60 प्रतिशत आगे बढ़ो थोड़ा सा घटाते जाओ कहीं 50 प्रतिशत ये व्यक्ति स्वयं अपनी उन्नति में बाधक है कहीं कहीं किसी क्षेत्र में राजा प्रजा परिवार आंशिक रूप में वो बाधक होते हैं अधिक बाधक पर अधिक सामूहिक रूप में हम देखने लगे तो बहुत बड़ी मात्रा इसकी है कि व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत नहीं होने देता वो 80 प्रतिशत बाधक बन रहा है कहीं 70 कहीं 60 कहीं 50 स्वयं जब ये सोचता है व्यक्ति के मैं बाधक बन गया हूं और मैं ही बाधक हूं तब ये व्यक्ति अपने अविद्या अपने दोषों को जानता है समझता है उनको उखाड़ने में लगा रहता है दूसरे के गुणों को देखता है दोषों को नहीं देखता दूसरा व्यक्ति दूसरे के दोषों को देखता है अपने गुणों को देखता रहता है आपको जब एक बात अच्छी तरह समझ में आई होगी और दूसरे को आपके साथ पढ़ने वाले को कमाई होगी तो आप कहते इसको कोई बुद्धि काम ठीक नहीं करती इसको कुछ आता जाता नहीं <laughs> यार नहीं होता पाठ पढ़ते समय आपको झट समझ में आ गई बात दो चार छह बातें बड़ी अच्छी गंभीर और उसको दो एक तीन मुश्किल से आई नहीं तो आई नहीं उसको तो मन मन सोचे ये क्या है इसका दिमाग ही काम नहीं करता बेसमझ है आ गया पढ़ने के लिए आता जाता कुछ है नहीं ऐसा सोचना आरम्भ कर देगा होगे या नहीं होता आगा है जी बताओ होता है या नहीं होता बोलते क्यों नहीं रवि जी नहीं किया है होता है होता हो और आप उसको पकड़ नहीं पाए ऐसा भी होता है होता रहता है वो उसको ये पता नहीं मैं क्या करता हूं कभी कभी किसी के दो तीन कारखाने हैं अलग अलग फैक्ट्रिया चलते हैं तो दृष्टांत बताता हूं और वो तीनों में जाता रहता है दो तीन में जाता रहता है कार लेने के जाता रहता है और कई बार वो कार को पकड़ता है और जाना था पूर्व दिशा में पूर्व दिशा के कारखाने में अवश्य कार्य था दस बजे पहुंचना और उसने गाड़ी उठाई और कर दी रोज के जो संस्कार होते ना जाने आने के वो उसके दूसरे कारखाने के थे जो जिसमें अधिक जाता आता था उसने क्या किया गाड़ी चलाई और जिस कारखाने में नहीं जाना था उसमें पहुंच गया जाके कहने क्या जाना था, था उसमें और मैं आ गया इसमें नहीं समझे कब आ गया कैसे आ गया उसको कोई पता क्या कैसे आए क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं तो आ गया जब पता चला है कि मैं दूसरे कारखाने में पहुंच गया हूं वेदमणि जी आ रहा है समझ में संध्या में बैठा एक व्यक्ति उस गाड़ी चालक की तरह है ये वो गाड़ी चलाई थी इसलिए अर्थात उपासना आरंभ की थी ईश्वर तक पहुंचू ईश्वर से संबंध जोड़ू इसकी स्थिति उसने क्या किया व्यापार की बात उठाई पढ़ाई वाले ने अपने पाठ की बताई उपदेशक ने अपने उपदेश की बात उठा ली और बात उठा ली और वो उपासना तो छूट गई वो चलता रहा चलता रहा पांच दस मिनट हो गए बिचारते बिचारते कहने कहाँ चले गया हमें कहते मैं तो उपासना के लिए बैठा था क्या सोचने लग गया वो कहीं जा चुके और पांच मिनट दस मिनट तब पता चला कि ये तो और ही कहीं जा रहा है व्यक्ति तो आप ऐसा देख सकते उपासना में ऐसा होता है या नहीं होता बताओ तो हाँ या ना अब इससे आप नहीं बच सकते तो फिर उपासना नहीं होगी कितना सावधान होकर चलाएगा गाड़ी को जब चलाएगा गाड़ी चलानी है कैसे चलानी है बचना है बाए दाए फिर जाना कहा है अच्छी तरह सोचता तब वो व्यक्ति वही चलाएगा गाड़ी को जहां कहीं नहीं इतनी ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाई वो दस किलोमीटर चला गया पता चला कि दूर जाना जाना कहीं था चला गया कहीं कैसे संध्या उपासना में आप देखेंगे और जीवन की घटना आपने सोचा ये बनाया सिद्धांत नियम मंतव्य आजीवन में जारी रहेंगे समाधि तक पहुंचेंगे समाज को ऊंचा उठाएंगे ईश्वर साक्षात्कार करें करवाएंगे और उसने ध्यान दिया नहीं वो लुढ़कते लुढ़कते और कमजोर होते होते और धीरे धीरे